फिरौन बोला तुम मेरे इजाजत देने से पहले ही मूसा पर ईमान ले आए साबित हुआ कि ये तुम सब का सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है अच्छा अभी तुम्हें पता चल जाएगा मैं तुम सब के एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव कटवाऊंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा